सातवें हदीस जन्नत में दाखिल न हों जब तक कि आप यकीन न करें और इस वक्त तक यकीन न करें जब तक कि आप मोहब्बत न करें क्या मैं आपको कुछ नहीं दिखाता अगर आप ये करते हैं तो क्या आप इसे पसंद करते हैं आपके माबेन अम को ज़ाय करें